देखि पवन सुत कटक बिहार क्रोधवन्त जनो धाय उपाला महाशैल एक तुरत उपारा अतिर समे नाद पर डारा आवत देखी गय नभ रथ सारथे तुरग सब खोए बार बार पचार हनुमान निकटन आव मरम सो जाना सारी सेना को बेहाल व्याकुल देखकर पवन सुत हनुमान क्रोध करके ऐसे दौड़े माने स्वयं काल दौड़ा आता हो उन्होंने तुरंत एक बड़ा भारी पहाड़ उखाड़ लिया और बड़े ही क्रोध के साथ उसे मेघनाथ पर छोड़ा पहाड़ को आते देखकर वह आकाश में उड़ गया उसके रथ सारथी और घोड़े सब नष्ट हो गए चूर चूर हो गए हनुमान जी उसे बार बार ललकारते हैं पर वह निकट नहीं आता क्योंकि वह उनके बल का मर्म जानता था रघुपति नट घन नाना भरसि से अस्त्र शस्त्रया युद्ध कहे प्रभु काटनिवा के प्रताप मूढ़ खेसियाना कर लाग माया विधि जिमको कर गरुण से खेला डर पावे गही स्वल्प सपेला तब मेघनाथ श्री रघुनाथ जी के पास गया और उसने उनके प्रति अनेकों प्रकार के दुर्वचनों का प्रयोग किया फिर उसने उन पर अस्त्र शस्त्र तथा और सब हथियार चलाए प्रभु ने खेल में ही सबको काट कर अलग कर दिया श्री राम जी का प्रताप सामर्थ्य देखकर वह मूर्ख लज्जित हो गया और अनेकों प्रकार की माया करने लगा जैसे कोई व्यक्ति छोटा सा सांप का बच्चा हाथ में लेकर गरुण को डरावे और उससे खेल करे जासु प्रबल माया बस शिव बिरंच बड़ छोट ताहि दिखावन से चर निज माया मतिवो शिव जी और ब्रह्मा जी तक बड़े छोटे सभी जिनकी अत्यंत बलवान माया के वश में हैं नीच बुद्धि निशाचर उनको अपनी माया दिखलाता है नभ चढ़ी बरस विपुल अंगारा बहिते प्रगट ओहि जलधारा नाना भांति पिसाच पिसाची मारुकाटुधुने धुनी बोलहि नास्ता पूयुरक वर सहि कबहु उपलबहुछ बरसि धूरे की सि अधियारा सूझन आपल हाथ पसारा आकाश में ऊंचे चढ़कर वह बहुत से अंगारे बरसाने लगा पृथ्वी से जल की धाराएं प्रकट होने लगी अनेक प्रकार के पिशाच तथा पिशाचनियाँ नाच नाच कर मानो काटों की आवाज़ करने लगी वह कभी तो विष्ठा पीप खून बाल और हड्डियां बरसाता था और कभी बहुत से पत्थर फेंके देता था फिर उसने धूल बरसाकर ऐसा अंधेरा कर दिया कि अपना ही पसारा हुआ हाथ नहीं सूझता था कपिय कुलाने माया देखे सब कर मरन बनाए ही लेखे कौतुक राम रामूस्का भय सभीत सकल कप जाने बाण काटे सब माया दिम दिन कर हर काया कृपा दृष्टि कपे भालु बिलो के भय प्रबल रन रह के माया देखकर वानन अकुला उठे वे सोचने लगे कि इस हिसाब से इसी तरह रहा तो सबका मरण आ बना यह कौतुक देखकर श्री राम जी मुस्कुराए उन्होंने जान लिया कि सब वानर भयभीत हो गए हैं तब श्री राम जी ने एक ही बाण से सारी माया काट डाली जैसे सूर्य अंधकार के समूह को हर लेता है तदनंतर उन्होंने कृपा भरी दृष्टि से वानर भालुओं की ओर देखा जिससे वे ऐसे प्रबल हो गए कि रण में रोकने पर भी नहीं रुकते थे आज सुमाएंगे राम पहे अंगदादिकपेशा लक्ष्मण चले क्रोध होए बाण सरासन श्री राम जी से आज्ञा मांगकर अंगद आदि वानरों के साथ हाथों में धनुष बाण लिए हुए श्री लक्ष्मण जी क्रुद्ध होकर चले